और कितनी ही बस्तियां वो हैं जो अपनी मीशत पर इतराती थीं हमने उनको तबाह कर डाला अब वो उनकी रिहाइश गाहें तुम्हारे सामने हैं जो उनके बाद थोड़े अरसे को छोड़कर कभी आबाद ही ना हो सकें और हम ही थे जो उनके वारिस बने